नैव अचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा अस्ति ब्रूहत्वन्यत्र कथन तदुपलभ्यते इसका दृश्य भाष्य कुछ नहीं हुआ हम्म, तथा ही तथा ही इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्यमान सद्बुद्धि निष्ठा में में कार्य छोटे उसका नाश होने पर अंत में सद्बुद्धि कुछ ना कुछ है उसका अवयव रहता है सद्बुद्धि में निष्ठा ज्ञान कराता है सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो करके टीका में ननु यद दृश्यम तद असद यथा स्वप्न दर्शनम इति व्याप्ति दर्शनात् अस्तित्व दृश्य से असत्वात् सद्बुद्धिरपि नास्त्यव इतिशंक्या बौद्ध लोग ऐसे व्याप्ति ज्ञान बताते हैं स्वप्न पदार्थ दिखता है किंतु है ही नहीं असत कहते हैं यद दृश्यम तद असत सत का अर्थ विद्यमान अविद्यमान अर्थ करें तो कोई बात नहीं वेदांत मत के अनुसार स्वप्न पदार्थ असत नहीं है असत असत पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है असत का बाध भी नहीं होता है बंध्यापुत्र का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है बंध्यापुत्र का बाध बाध अभाव दर्शन अभाव ज्ञान असत का अभाव ज्ञान भी नहीं होता है तुच्छ है तो प्रतीयते च बाध्यते च जिसका प्रतीति हो जिसकी प्रतीति हो बाध हो वो असत नहीं हो सकता है स्वप्न दर्श पदार्थ भी अनिर्वचनीय है राज्य में सर्प दिखता और सर्प भी असत नहीं है कुछ लोग असत कल्पना करते हैं असत सर्प की प्रतीति करके असत हो तो उसका प्रतिशिगान नहीं होगा तो वो कहते स्वप्न पदार्थ असत है दृश्य और भय नहीं असत है यथा स्वप्न दर्शनम व्याप्ति ज्ञान हो गया यद दृश्यम तत्तद असत वेदांत भी व्याप्ति ज्ञान बताते हैं यद दृश्यम तत्तद मिथ्या रज्जु सर्प मिथ्या स्वप्न प्रपंच मिथ्या है मिथ्या और असत में भेद है न सत इति असत ऐसा अर्थ करेंगे सत भिन्न सत से भिन्न कहेंगे तो एक वंध्या पुत्र सृष्टि विषाण असत तुच्छ है और ये रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य वो तुच्छ नहीं किंतु सत नहीं असत नहीं उभय नहीं विलक्षण है इसको अनिर्वचनीय कहते हैं वही मिथ्या है तो यद दृश्यम तन मिथ्या ये तो व्याप्ति ठीक है किंतु कत यद दृश्यम तद असत यदि स्वप्न दर्शन हुआ ये व्याप्ति ज्ञान होने के बाद जितने पदार्थ सब घटो अस्ति पटो अस्थि पर्वतो अस्थि आकाशम अस्ति जलम अस्थि अस्तित्व ने दृश्य जितने होते सब असत हो गया यद दृश्यम तदसत सर्वे भाव दृश्य इसलिए सब असत हो जाएगी असत्वात् तो सद्बुद्धि भी बुद्धि है तो है तो असत हो जाए सद्बुद्धि हम दिखते हैं ज्ञान जानते हैं तो भी असत हो जाएगा सद्बुद्धिरपि नास्त्यव वो भी असत हो गया क्या है और वैसे भी व्याप्ति ज्ञान करते हैं दीप शिक्षा को दृष्टान दे करके यह सत तत्क्षणिकम जो सत्य है वो क्षणिक है जो है करके से भान होता है वो क्षणिक है असंत से में भावा ये पदार्थ सद विद्यमान है इसलिए क्षणिक है ये भी व्याप्ति कहते हैं जो दृश्य होता असत्य स्वप्न दर्शन को दृश्य स्वप्न दृश्य को लेकर के यदापि भाष्य में विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धिस तदापि सा सत प्रत्यय गर्भेव पिलियते विषय प्रविलापनेन विषय का लय करेंगे अपने कारण मिले हो गया कारण से कार्य अलग नहीं वो अपने कारण से कार्य अलग नहीं ऐसे करके प्रविलाप्य माना बुद्धि बुद्धि भी लीन हो जाएगी अपने कारण तदापि सा सत प्रत्यय गर्भे विलीयते सत प्रत्यय गर्भे बुद्धि के गर्भ सत प्रत्यय सत प्रत्यय सत होकर के लीन होते उसका कारण है लय तो कारण रूपण अवस्थान तो कारण है सत सत प्रत्यय गर्भ होकर लीन होती है टीका में सद्बुद्धिरपि नास्ति इतम भूतः प्रत्ययो अवश्यम अस्तित्व आप कहते सद्बुद्धिरपि नास्ति सद्बुद्धि भी दृश्य होने के कारण नास्ति सद्बुद्धिरपि नास्ति ये जो कहते हो ये कहने के लिए शब्द प्रयोग करने के लिए उसका कारण ज्ञान चाहिए एवं भूत प्रत्यय अवश्यम अस्ति ज्ञान है सद्बुद्धिरपि नास्ति ये कहने के सद्बुद्धि नास्ति इस प्रकार ज्ञान है इति अवश्य मानना पड़ेगा ज्ञान नहीं तो सद्बुद्धि रपि नास्ति इसका शब्द ही प्रयोग नहीं होगा सद्बुद्धि रपि नास्ति ते इस प्रत्यय ज्ञान अवश्य ही मानना पड़ेगा अन्यथा निश्चय व्यवहार होगा सद्बुद्धि नास्ति कैसे व्यवहार करोगे शब्द प्रयोग कैसे करोगे ज्ञान मानना पड़ेगा घटो नास्ति कहने के लिए ज्ञान चाहिए घट अभाव का ज्ञान अतो अंततो गत्वा सद्बुद्धि स्वीकृत्या स्यात् तो अंत में कुछ नहीं माने तो सद्बुद्धि तो को आपने मान लिया सद्बुद्धि रपि नास्ति कहने पर ना ये ज्ञान नास्ति इति प्रत्यय बुद्धि हो गई वो सद्बुद्धि मान ली सद्बुद्धि स्वीकृता तत किम त्वर क्या हुआ सद्बुद्धि रहने से अतः बुद्धि ही न प्रमाणम सदसतुर याथात्म्य अवगमे बुद्धि हमारे प्रमाण है बुद्धि यदि है सद्बुद्धि है तो असत कैसे होगा सब असत नहीं जो लीन होते होते होते समाप्त होते अंत में सत है ये सत करके रहे असत नहीं है हमारे बुद्धि प्रमाणे सद असत और यथात्म्य अवगमने यथार्थ अवगमे यथात्म्य यथात् यथात्म अनुभावम यथात्म्यम यथार्थ स्वरूप ज्ञान के लिए बुद्धि प्रमाणे सत असत है क्या है व्यभिचारी सपि विशेषु सन्मात्र बुद्धेर अभिविचार दर्शनाद बुद्धिश्च सत प्रामाण्यान सन्मात्रम वस्तु अभिभगंतव्यम इत्यर्थ व्यभिचारिषु अपि विषयेषु विषयों का व्यभिचार होता है घट है पट नहीं पट है घट नहीं घट पट नहीं पट घट नहीं घट अभी है कभी नहीं रहता है एकत्र है अन्यत्र नहीं है विषय का व्यभिचार होता है एक ही विषय अन्यत्र नहीं वो व्यक्ति अलग ये व्यक्ति अलग किंतु सर्वत्र सन्मात्र बुद्धेर अव्यभिचार दर्शनात् घटो अस्ति पटो अस्ति घट नहीं चला गया तो भूतलम अस्ति घट पटनी पट घटनी किंतु घटो अस्ति पटो अस्ति अस्ति अस्ति करके सन्मात्र बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता है घट तोड़ दिया घटो घट नहीं रहा किंतु कपालम अस्ति चूर्णम अस्ति अस्ति करके सन्मात्र बुद्धि तो रहती है सर्व विषय के साथ सन्मात्र का अनुगत होकर के प्रतीत होती सब विषय की घटो अस्थि पटो अस्थि कह करके अस्थि अस्थि अस्थि कहो सत कहो एक है तिंगंते अस्थि सत सन सती विभिन्न शब्द प्रयोग होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तो सन्मात्र बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता है अदर व्यभिचार अव्यभिचार दिखता है अरे बुद्धिश्च बुद्धिश्च सत प्रामाण्यात बुद्धि स्वतः प्रमाण है सतस्तम प्रामाण्य से ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यतम सत प्रमाण है ज्ञान को जब जानते हैं ज्ञान के प्रमात्व को भी हम जान लेते हैं सत प्रामाण्य में ज्ञान में प्रामाण्य प्रामाण्य का तो प्रमात्वम जो सत प्रमाणम परत प्रमाण आदि शब्द प्रयोग करते हैं प्रमाण शब्द मांग माने धातु से ल्यूट करने से प्रमाण बनेगा कर्म करण में लूट करेंगे तो परमा करणम प्रमाण साधन हो जाएगा भाव में लूट करेंगे तो प्रमाण का अर्थ प्रमा जहाँ प्रामाण्य कहते सत प्रामाण्य व प्रमाण्य प्रामाण्य का तो प्रमात्वम प्रमाण सत प्रमा के लिए प्रमात्वम प्रमात्व ज्ञान में रहता है यथार्थ ज्ञान में प्रमात्वम यथार्थ ज्ञान अनुभव को प्रमा कहते हैं उसमें प्रमात्व रहता है प्रमात्व यथार्थ ज्ञान में जो प्रमात्व और प्रमात्व के विषय में विचार करते हैं दो प्रकार कहा जाता है प्रमात्व की उत्पत्ति और प्रमात्व की ज्ञप्ति प्रमात्व की उत्पत्ति होती है ज्ञान में और परमात्व का ग्रहण होता है हमको घट का जैसे ज्ञान होता है अयम घट ये घट का ज्ञान हुआ घट ज्ञान होते होने के बाद घट ज्ञान का भी ज्ञान होता है जहाँ नायक के लोग कहते अनुव्यवसाय ज्ञान अयम घट ये घट ज्ञान हुआ इसको वेदांति कहेंगे घटाकार वृत्ति ही वृत्ति ज्ञान घट ज्ञान होने के बाद एक अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं न्याय मत में व्यवसाय निश्चय अनुव्यवसाय अनुकात पश्चात पीछे जो निश्चय होता है घटम हम जानामि घट ज्ञान वान हम घट ज्ञान होने के बाद आपको मालूम होता है कि मुझे घट ज्ञान हुआ घट के मैं देख रहा हूँ घट ज्ञान वान हम ये ज्ञान को कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान अयम घट इस ज्ञान का विषय घट है किंतु घटम हम जानामि घट ज्ञानवान हम ये ज्ञान है घट ज्ञान का प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष न्याय मत के अनुसार घट ज्ञान का प्रत्यक्ष घट का प्रत्यक्ष होने पर कहेंगे अयम घट घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होने पर क्या कहेंगे घटम हम जानामि घट ज्ञानवान हम ये घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है इसको कहते अनुव्यवसाय वेदांत मत के अनुसार घटा ज्ञान घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति बुद्धि का अंतकरण का परिणाम वृत्ति है साक्षी उसको ग्रहण करता है घट ज्ञान होते ही घट ज्ञान मुझे हुआ या नहीं हुआ संशय नहीं होता है घट ज्ञान हो गया तो घटम हम जानामि साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो जाता है ज्ञान अंतकरण वृत्ति वो सब अंतकरण सुख दुख आदि को प्रकाश करता है साक्षी तो ज्ञान का ग्रहण होता है साक्षी के द्वारा न्याय मत के अनुसार होगा अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा तो भी जिससे ज्ञान का ग्रहण होगा उससे ज्ञानगत परमात्व का भी ग्रहण हो जाता है इसको कहते ज्ञप्ति में स्वतस्त्व घट ज्ञान पट ज्ञान ये ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान में परमात्व है जिस सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी सामग्री से ज्ञान में परमात्व की उत्पत्ति होती है ज्ञान की उत्पत्ति होती है सामग्री से तो ज्ञान में परमात्व की उत्पत्ति होगी उसी सामग्री से तो ज्ञान जनक सामग्री जन्यत्वम स्वतः परमात्मा उत्पत्ति में ज्ञान की उत्पत्ति जिस सामग्री से उसी सामग्री से परमात्मा की उत्पत्ति उत्पत्ति में स्वतः तो हुआ ज्ञान का ग्रहण जिस से होता है उससे ज्ञान निष्ठ परमात्मा का ग्रहण होगा इसको कहते ज्ञानति में सतत्व ज्ञान की उत्पत्ति सत होती है अज्ञान प्रमात ज्ञान में प्रमात्व की उत्पत्ति सत होती है अज्ञान इष्ट प्रमात्व का ग्रहण भी सत होता है ज्ञान में प्रमात्व सत उत्पत्ति सत उत्पत्ति होती है प्रमात्व की का अर्थ जिस सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसी सामग्री से ज्ञान में प्रमात्व की उत्पत्ति हो जाती है यही सत है और इसी प्रकार ज्ञान का जैसे ग्रहण होता है उसी से ज्ञान अनिष्ट प्रमात्व का ग्रहण हो जाएगा तो ज्ञप्ति में स्वतस्थ है यहाँ ज्ञप्ति स्वतस्थ का लक्षण दिया प्रमा प्रामाण्य से स्वतस्तम तो ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राहकत्म ज्ञान का जो ग्राहक ज्ञान को ग्रहण करने वाले न्यायमति के अनुसार अनुव्यवसाय वेदांत के अनुसार साक्षी है उसी सामग्री से ग्राह्य होता है प्रमात्व ये स्वतः प्रमाण है बुद्धि स्वतः प्रमाण ज्ञान है होने से जैसे ज्ञान होता प्रमाण है और कहते रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ तो सत प्रमाण हो जाए वहाँ दोष के कारण भ्रांति होती दोष नहीं हो तो सत प्रमाण उत्पन्न ज्ञप्ति होती है वहाँ दोष के कारण भ्रांति होती है सन्मात्रम वस्तु अभिवगंतव्यम तो यदि सद्बुद्धि होती है अस्ति अस्ति करके सद्बुद्धि का अब है सर्वत्र घटपट आदि सर्वत्र सब बुद्धि अस्ति अस्ति प्रत्यय अनुगत है तो सन्मात्र वस्तु मानना पड़ेगा मानना चाहिए इतस्य सदैव मूलम जगत वाच्यम इत्याह जगत का मूल सद सद एव न तो असत असत नहीं है सद ही मूल है अन्य कोई नहीं है मूलम चेत जगत तो न स्याद असद अन्युतमेव इदम कार्यम असद इतव गृह्यत न तो तदस्ति सत सत तो गृह्यते मूलम चे जगत तो न स्यात् जगत का मूल कोई सद्वस्तु यदि नहीं हो नहीं है तो असत कहेंगे तो कारण से अन्वित कार्य होता है मिट्टी से बनाया गया कार्य सो मिट्टी है सुवर्ण से बने गए भूषण सो सुवर्ण है जितने सुवर्ण से बने गए सबको सोना ही कहते हैं भूषण का नाम रूप अलग होने पर ही सुवर्ण ही है रजत से बने गए जो कुछ सब रजत ही है इसी प्रकार सत का कार्य सारे जगत जितने सत सत सत अनुगत होते हैं यदि असत से उत्पन्न होता है जगत असत से होता है तो सारे पदार्थ असत असत इसे मिट्टी से बने गए बर्तन घट कुलड़ आदि सब सब मिट्टी मिट्टी इसी प्रकार यदि सद जगत का मूल नहीं होता असत होए तो असत से अन्वित संबद्ध होकर के कार्यम तो कार्य का ग्रहण होना चाहिए घटो असत घट असन पृथ्वी असत नास्ति आकाशम असत नास्ति नास्ति असत असत ऐसे ज्ञान होना चाहिए मिट्टी से बनेंगे सब मिट्टी है सोने से बनेंगे सोने असत बनेंगे सब कार्य तो सब असत असत नहीं तो नास्ति असत असत ऐसे होना चाहिए असत से अन्वित संबद्ध होकर के कार्य का ग्रहण होना चाहिए किस प्रकार असत इतम असत इदम असत इदम असत आकाशम असत जलम असत ऐसे ज्ञान होना चाहिए किंतु होता नहीं न तो एतद अस्ति ऐसा नहीं होता आकाशम अस्ति जलम अस्ति पृथ्वी अस्ति अस्ति अस्ति करके सत सत करके ग्रहण होता है असत असत नहीं न तो एतद अस्ति सत सत इत्येव गृहते अस्ति अस्ति सत सत ऐसे ही ग्रहण होता है इसे सत अन्य तो कार्य हुआ क्योंकि सत उपादान उपादान यदि असत होता असत अन्य तो होना चाहिए ऐसा नहीं होता है इसे जगत का मूल सत मानना पड़ेगा यथा मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्यतम जैसे मृदादि कार्यम घटादि मिट्टी का कार्य घट आदि से सुवर्ण का कार्य कुंडल कटकम घुटादि सब सोना है मिट्टी के कार्य घटादि सब मृत्यु से अन्वित है आदि से ताम्र से बनेगे पदार्थ ताम्र है रजत देव से बनेगे तो रजत है ऐसे मृदा आदि अन्वित होकर के कार्य ग्रहण होता है तस्मा जगत मूलम आत्मा अस्ति तेव उपलब्धव्य जगत का मूल आत्मा है अस्ति इतेव उपलब्धव्य नास्ति करके जगत मूल को है नहीं नास्ति से नहीं अस्ति इति तो अन्यत्र कथम तद उपलब्धे अस्ति ऐसे कह करके अनुभव कर सकता है उसको छोड़कर जो नास्ति नास्ति अपने कल्पना करेगा उसका वो क्या उपलब्धि करेगा टीका में नास्ति जगत मूलम अवगमे अवगमेपि प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान संभवाद किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्तित्व उपलब्धव्य घटो नास्ति ऐसे ज्ञान जो होता है आप कहते भूतले घटो नास्ति तो घट का ज्ञान होता है नहीं होता है घट ज्ञान नहीं तो घटो नास्ति नहीं कह सकते घटो नास्ति कहते तो घट का निषेध भूतल में करते हैं घट का अभाव है किसका अभाव है अभाव का प्रत्यय कौन होगा घट प्रत्ययित्व में घट का ज्ञान होता है तभी घटो नास्ति कहेंगे जो घट क्या मालूम नहीं कविदारम नास्ति क्या कहा कोविदारो नास्ति जो कोविदार क्या नहीं जानता है वो बोल सकता है अत्र तो कोविदारो नास्ति इसमें कोविदार है या नहीं जो नहीं जानता है कह सकता है अत्र तो कोविदार नास्ति अरे किसी को कोविदार कहते <laughs> देखा कभी इसको देखा कभी पुष्प देखा कभी कलम कोविदार कौन सा है नास्ति कैसे का ज्ञान नास्ति कहने के लिए कोविदार का ज्ञान चाहिए इसी प्रकार यदि कहेंगे नास्ति जगत मूलम ब्रह्म जगत का मूल ब्रह्म है ही नहीं ऐसे ज्ञान हुआ तो भी तो ब्रह्म ज्ञान हो गया हो गया ना नहीं ब्रह्म ज्ञान क्यों ना ब्रह्म नास्ति जगत मूलम ब्रह्म नास्ति ये ज्ञान होने के लिए ब्रह्म ज्ञान होगा ना नहीं हो गया तो पूर्व ऋषि कहता है नास्ति जगत मूलम है अवगमेपि किसका निषेध किया ब्रह्म का अभाव का प्रत्योगी ब्रह्म हो गया प्रत्योगिता ब्रह्म ज्ञान संभवात तो प्रत्योगिता में भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो मुमुक्ष के लिए क्यों ब्रह्म ज्ञान को जो चाहता है अस्तित्व उपलब्ध है अस्ति अस्ति क्यों उपलब्धि करना है नास्तित्व ने उपलब्धि करे तो भी तो ज्ञान हो जाएगा घटो अस्थि कहे तो घट ज्ञान होगा घटो नास्ति कहने कहेंगे तो भी घट ज्ञान के बिना नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान कामेन मुमुक्षुना किमिति अस्तित्व उपलब्धव्य क्यों कस्मात कि मूल में का जगत मूलम आत्मा अस्ति इत्येव उपलब्धव्य अस्ति ऐसे उपलब्ध करना चाहिए पूर्व पीछे कहता क्यों नास्ति ऐसे उपलब्धि कर तो भी तो ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का कस्मात टीका में प्रतियोगितया ज्ञानस्य ज्ञातस्य प्रतियोगितया ज्ञातस्य निषिद्धत्वात् प्रतियोगिता ने जो ज्ञात हुआ वस्तु घट वो निषिद्ध हुआ प्रतियोगित्व ने ज्ञात से निषेध हो निषेध होता है घटो नास्ति घट का ज्ञान हुआ प्रतियोगित्व न प्रतियोगित्व ने ज्ञात कह घट हो निषेध हुआ इसी प्रकार जगत मूल ब्रह्म नास्ति कहें तो ब्रह्म निषेध हुआ जो निषेध होगा वही मैं हूँ ऐसा होगा जिसका निषेध करेंगे वो मैं ही हूँ होगा निषेधतया जो ज्ञात हुआ आत्मतया ज्ञान होना चाहता यदि भी प्रतियोगित्व ब्रह्म का निषेध हुआ ब्रह्म नास्ति जो ब्रह्म नहीं है वो मैं हूं एक कैसे मैं तो हूं ब्रह्म नहीं एक कैसे होगा निषिद्धत्वेन यदि ज्ञात हुआ तो आत्मतया ज्ञान होना स्याद अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान है प्रति निषिद्धत्वेन यदि ब्रह्म का ज्ञान होगा जो निषेध्य सो हम ये ज्ञान नहीं हो सकता है मैं विद्यमान हूं और ब्रह्म निषेध निषिद्धमान एक कैसे होगा अतो ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्ति जगत मूलम इति अवगंतव्यम एव इत्या जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है जगत का मूल है ऐसे ही ज्ञान होना चाहिए तभी मैं हूं जो जगत का मूल है कारण सोहम अस्मि अस्तित्व ब्रुवतो अन्यत्र भाषी में अस्तिति ब्रुवतो ब्रह्म है ऐसे जो कहता है वो तो अनुभव करेगा वो कौन है अस्तित्ववादी न आगमार्थानुसारिण शब्दधानाथ अस्तित्ववादी अस्तित्व अस्तित्वेन कथय कथन करता अस्तित्वम वदति सर्वत्र अस्तित्व अस्तित्व कहता है अस्तित्ववादी कौन होता अस्तित्ववादी आगमार्थ अनुसारी आगमार्थम अनुसरते आगम अर्थ के अनुसार जा चलता है आगमार्थ को मानता है वो आगमार्थ अनुसारी वही श्रद्धालु शब्द दानाथ पंचमेत अस्तित्ववादी नहीं पंचमेत जो श्रद्धालु आगमार्थ अनुसार ही अस्तित्ववादी वो तो अनुभव करे उससे अन्यत्र उससे अन्य कौन है नास्तित्ववादी नहीं जो नास्तिक होता है वो क्या जगत ब्रह्म की उपलब्धि क्या करेगा नास्तित्ववादी नहीं नास्ति जगत तो मूलम आत्मा जगत का मूल आत्मा नाम कोई पदार्थ है ही नहीं है जगत का नाश हो गया तो नाश हो गया तो सब समाप्त हो गया मूल और मूल क्या है कहते निरन्वय में वेदम कार्यम अभावांतम प्रबिलियते मन माने जो कहते असत्य है असत से उत्पन्न होता है कहते कार्य का नाश हो गया तो कार्य कुछ रहा है नहीं उसका अन्वय संबंध कुछ नहीं रहा समाप्त हो गया कहाँ कुछ रहा समाप्त हो गया शून्य हो गया तुच्छ हो गया अभाव हो गया निरन्वय में वेदम कार्यम प्रबिलियते निरन्वयम निर्गत अन्वय यस्य जिसका कोई अन्वय संबंध रहा ही नहीं समाप्त हो गया बिल्कुल कुछ नहीं रहा वेदांति कहते नष्ट होने पर घट नष्ट तो कपाल कपाल नष्ट तो कपालिका चूर्ण कुछ ना कुछ रहता जहाँ नहीं दिखता वहाँ भी अवयव निश्चय होता है प्रत्यक्ष दृष्टि में जो नाश होता है तो कुछ अंश अवयव रहता है जहाँ नहीं दिखता उसका भी कुछ रहेगा अंत में कुछ ना कुछ है निरन्न वो कहते जो तुच्छवादी कहते कार्य का नाश हुआ निरन्वयम कोई अन्वय नहीं रहा कुछ भी नहीं रहा फिर क्या होगा अभावांतम अभाव हो गया सब अंत में अभाव रहा जगत का प्रलय हो जाएगा तो अभाव हो जाएगा सब और अन्वय कुछ नहीं रहेगा वेदांत कहते सब का नाश होगा तो कारण रहना चाहिए उसका कारण में लय लय का से कारण रूपण अवस्थान कारण रूपण अवस्थान को लय कहते हैं तो अंत में प्रलय में भी कुछ कारण रहता है इतिया जो कहते असत कहते कार्य कार्य नष्ट हो गया अन्वय रह नहीं रहा अभाव हो गया ऐसा मानने वाले अस्तित्व अस्तित्व पूर्वत्व अन्यत्र कौन मानता है नास्तित्ववादिनी सतदान अन्यत्र नास्तित्ववादिनी जो नास्तिक कहता है नास्ति जगत मूलम आत्मा निरन्वय कार्यम अभावांतम प्रविलयति मन्य माने मन्य माने कस्मिन कौन मानता है नास्तित्ववादिनी नास्तित्ववादिनी मान्य माने उसके साथ जो नास्तित्व कहता है उसमें ऐसे ऐसे आगमार्थ अनुसरण नहीं करने बारे में विपरीत दर्शनी वो विपरीत दर्शी है जो कहता है नास्ति मूलम कहता मानने वाला विपरीत दर्शी विपरीतम पश्यति इति विपरीत दर्शी तस्मिन् विपरीत दर्शनी विपरीत दर्श दर्शा दृष्टा में कथन तद्ब्रह्म उपलभ्यते कथन तद ब्रह्म तत्व उपलब्ध है तत्व तो उपलब्धि कैसे होगी निषिद्धत्व जो ज्ञान है वो तत्व तो क्या उपलब्धि है ही नहीं तो उसका उसकी उपलब्धि कैसे होगी नास्ति अस्तित्व ब्रुवत्व अन्यत्र कथन तद उपलब्धते ब्रह्म की उपलब्धि कैसे होगी कथम उपलब्धते आक्षेपे कैसे होगी उपलब्धि अर्थात न कथंचन थी इत्यर्थ कभी उपलब्धि नहीं कर सकते नास्ति नाति जो मानते हैं नास्ति नाति शून्य कहेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान क्या होगा टीका में आ, हो गया टीका हो गई आगे आगे मंत्र है हो गया अस्तित्व उपलब्धव्यस्तत्व भावेन चो भयो अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति अस्तित्व उपलब्धव्यः तत्व भावेन च पहले अस्तित्व उपलब्ध तत्व भावेन च पहले अस्तित्व उपलब्ध ब्रह्म है ऐसे उपलब्ध करना चाहिए उसके बाद तत्व भावेन च तत्व भावेन पहले अस्ति कह कह के अस्तित्व ने ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान अथवा सोपाधिक ज्ञान आगे तत्व भावेन निरुपाधिक स्वरूप अहम अस्मि तत्व भावेन च हो दोनों प्रकार ज्ञान होता है उभयो मध्ये अस्तित्व उपलब्ध से तत्व पृष्यति पहले दोनों में से अस्तित्व उपलब्धस्य अस्ति करके जो उपलब्ध हुआ उसी ब्रह्म का है आगे तत्व भाव तात्विक स्वरूप प्रसिद्धति प्रकट हो जाता है ज्ञान होता है निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान होने के पहले सोपाधिक ज्ञान होता है उसके बाद तत्व भाव प्रसिद्धति प्रसिद्धति पूर्वम अस्ति से ज्ञान होता है बाद में पारमार्थिक स्वरूप अभिमुख हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है अस्तित्व उपलब्ध करने के बाद अस्तित्व परोक्ष ज्ञान होता है अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद फिर उसके बाद अहम अस्मि ज्ञान होता है भाष्य में तस्माद अपोह असद्वादादि पक्षम आसुरम अस्तित्व आत्मा उपलब्धव्य सत्कार्य बुद्धि आदि उपाधि तस्माद अपोह असद्वादादि पक्षम असद्वाद असत कारण है ही नहीं तुच्छ है असत उत्पन्न हुआ इसलिए जो बौद्ध में तो असदवाद असदवादी पक्ष असदवादी असद असदवद असदवदति ते असदवादी कहता सब असत है असदवादी के पक्ष है आसुरम असुर सहितम आसुरम आसुर है असुर संबंधी जिस प्रकार विरोचना गुरुकुलवास के बाद जाकर क्या कोई आत्मा नहीं देह ही सब कुछ इसको पोषण करो इसी प्रकार असदवादी पक्षम आसुरम अपोह्य उसको निराकरण करके छोड़ करके साधक को अपने मत कोई पहले कहते दे हमारा मत है हम इसको क्यों छोड़ेंगे अपना मत पकड़ कर कोई बैठ जाता है आगे जितने श्रवण करने पर भी कुछ लाभ नहीं होता है पहले अपने मत सिद्ध करके नहीं शास्त्र के तात्पर्य पहले समझे समझने के प्रयास करे अपोह असदवाद आदि पक्षम उसे असदवादी असदवाद आदि नहीं असदवादी पक्षम अस्ति तेव आत्मा उपलब्धव्य आत्मा अस्ति यही से ही उपलब्ध करना चाहिए सत्कार्यो सत तो कार्यम यस्य इति सत कार्य का उपलभ्यमानम कार्यम यस्य ये आत्मा सत कार्य सत है कार्य सत मत उपलभ्यमानम कार्य से आत्मा का कार्य उपलब्ध होता है सब कार्य सत कार्य सत मत सत कार्य में से सत का तो उपलभ्यमानम उपलभ्यमान कार्यम जिससे सत कार्य आत्मा उपलब्धव्य बुद्ध्यादि उपाधि बुद्ध्यादि उपाधिर्यस्य बुद्ध्यादि उपहित बुद्ध्यादि उपाधि वाला आत्मा पहले इसको उपलब्ध करना चाहिए अस्तित्व टीका में सोपाधिक से आत्मनो ज्ञानान मुक्ति असंभवात निरुपाधिक ज्ञान आय विप्रयति तव्यमित्याह सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी निरुपाधिक ज्ञान चाहिए क्योंकि सोपाधिक जो आत्मा है उपाधि ना सवर्त इति सोपाधिक उपाधि विशिष्ट ज्ञान हुआ तो वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ जपा कुसुम के पास में स्फटिक को देखा किंतु लाल लाल स्फटिक है यथार्थ ज्ञान हुआ अगर कहता स्फटिक रक्त रक्त स्फटिक है यथार्थ ज्ञान हुआ नहीं हुआ तो इसी प्रकार सोपाधि उपाधि वाले का ज्ञान हो तो यथार्थ पारमार्थिक ज्ञान नहीं हुआ यथार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा यथार्थ ज्ञान हो तब ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति होती है रज्जु ज्ञान के बिना सर्प सर्प कभी देखा माला है फिर बाद में देखा सर्प है जब तक अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान नहीं हो तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी ही सोपाधिक ज्ञान आत्मा सोपाधिक से आत्मन ज्ञान आता सोपाधिक आत्मा का ज्ञान हो अच्छा है सोपाधिक आत्मा है ईश्वर सोपाधिक माया विशिष्ट माया विशिष्ट आत्मा माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो उपासना करते हैं पहले वेदांत श्रवण सबसे अं- श्रेष्ठ साधन श्रवण नहीं कर पाए तो अहंग्र उपासना मैं ब्रह्म ऐसे चिंतन करना वो नहीं पाए तो वेद दृष्टि से उपासना करे तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर भेद बुद्धि से भी सर्वव्यापक ईश्वर ऐसे चिंतन करे वो नहीं कर पाता है तो प्रतीक उपासना प्रतीक उपासना करते समय भी प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे व्यापक दृष्टि व्यापक परमात्मा को प्रतीक भावना छोटा है ऐसा नहीं माने छोटे प्रतीक में व्यापक ब्रह्म की भावना करे प्रतीक से उपासना शुरू करते हैं किंतु उसका तात्पर्य प्रतीक में व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे परमात्मा को इतने कही हमारे भगवान इतने ही है इतने हमारे भगवान है और बाकी कुछ नहीं यही हमारे भगवान है ठीक है ये भगवान है किंतु उसके बाद ये भगवान व्यापक इस न करो वो समझ नहीं पा कर भक्ति भक्ति करके बड़े भक्ति कह कर अंत में परिचय न कर देते भगवान को परमात्मा को परिचय न कर देना ये भक्ति नहीं है परिच्छिन्न में भक्ति में भी सर्वत्र परमात्मा दर्शन करना ये भक्ति है भगवान गीता में स्पष्ट करते योमां पश्यति सर्वत्र वो भक्त के लिए नहीं कहते क्या न भक्तों कहते तुम लोग चले जाओ मैं ज्ञान का उपदेश करो ऐसे कहते यो मां हाँ पश्यति सर्वत्र सर्वत्र वासुदेव सर्वम ये कहते भक्तों को कहते हैं नहीं सर्वम वासुदेव ये भक्ति में सर्वत्र परमात्मा सब कुछ परमात्मा है इसलिए प्रतीक उपासना करने वाले को भी ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात व्यास जी ने कहा है ब्रह्म सूत्र में प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे ब्रह्म को प्रतीक भाव नहीं भावे प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि क्योंकि उत्कर्ष है तो ऐसे ब्रह्म व्यापक उपासना तो तो भी सोपाधि का ज्ञान हो अवतार अर्जुन भगवान को देख रहा है श्री कृष्ण को फिर मोह में पड़ा है प्रार्थना कर रहा है हनुमान जी कितने भक्त है राम जी से पूछते हैं उत्तराखंड में आता है हम आपकी भक्ति कैसे करेंगे भगवान का दर्शन हो गया और भक्ति में क्या कमती है कम भक्त थे ये भक्ति से इतना नहीं खाली साकार रूप दर्शन कर दिया भक्ति पूरी हो गई नहीं है भक्ति बिल्कुल ज्ञान हो दृढ़ तभी तो भक्ति में संतोष नहीं है ज्ञान भगवान का दर्शन करके भी भक्ति में संतोष नहीं पूछते हम आपकी भक्ति कैसे करेंगे और सामान्य कोई थोड़ा सा माला पकड़ के कपड़ा लेकर लेनेगा हम बड़े भक्त हैं बस उसमें बड़ा भक्त सबको किसी को नहीं मानेंगे हम बड़े भक्त हैं महाराज होते वही साधु कुछ गृहस्थ लोग आते हैं उस पार में ये साधु लोग को बिल्कुल पूछेंगे नहीं क्योंकि हम भी बड़े भक्त हैं ये लोग क्या करते हैं हम भक्त करते कि माला पकड़ के चलने लगे कोई तिलक तिलक धारण करके कोई माला धारण करे कोई जटा रख दिया कोई वेश बना दिया कोई कुछ करके अपने के भक्त ये मानने वाले बहुत ही वास्तव भक्ति तो है परिपूर्ण दर्शन यदि नहीं हो तो भक्ति क्या है अनन्य भक्ति अन्य है ही नहीं अविद्यमान अन्य अस्माद तभी अनन्य भक्ति होती है इसलिए का दर्शन तो अच्छा है करने से अंतकोण शुद्ध होता है ठीक है किंतु इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता है हाँ जाएगा ब्रह्मलोक पर जाएगा अन्य अन्य लोग जाएगा कोई लोग कहते हम मुक्ति नहीं चाहते जो मुक्ति नहीं चाहता है कोई कहते हम ब्रह्मलोक भी नहीं चाहते स्वर्ग जाएंगे कोई कहते स्वर्ग में हम नहीं चाहते यहीं भोग करेंगे तो ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार जो चाहता नहीं चाहते कोई बात नहीं किंतु मोक्ष प्राप्त होगा निरुपाधिक ज्ञान से सोपाधिक से आत्मन ज्ञानात् मुक्ति असंभवाद मुक्ति नहीं हो सकती तो फिर मुक्ति कैसे होगी निरुपाधिक भी प्रयतितव्यम इसलिए सोपाधिक ज्ञान होने के बाद भी निरुपाधिक ज्ञान के लिए प्रयत्न सोपाधिक दर्शन करने के बाद भी हाँ उसके बाद ईश्वर उपदेश करेंगे तब आगे ज्ञान मार्ग में चलेगा सोपाधि का ज्ञान होने के बाद ईश्वर स्वयं उपदेश करे अथवा ज्ञानी गुरु को पहुंचा देंगे ज्ञानी गुरु के पास उसको पहुंचा देंगे ज्ञानी गुरु प्राप्त होने पर फिर अद्वैत उपदेश करेंगे निरुपाधिक ज्ञान से ये मोक्ष होगा निरुपाधिक ज्ञानापि प्रयति तभी मिथ्या यदातु यदातु तद्रहित तो अभिक्रियात्मा कार्यं च कारण व्यतिरेकेण नास्ति आचारंभ विकार नाम ध्येयम मृति के तेव सत्यमिति श्रुते तदा तस्य लिंग से ज्ञान होगा यदा तो तद रहित तो अभिक्रिय उपाधि रहित पहले तो उपाधि विशिष्ट ज्ञान है यदा तो तद रहित तो अभिक्रिय अभि जो उपाधि रहित है वो अभिक्रिय है वस्तु तो आत्मा में की विक्रिया होती नहीं है निष्क्रिय है निर्विशेष है उपाधि के कारण उसमें विक्रिया की प्रतीति होती है जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है जल थोड़ा कंपन हिलना से कहते चंद्र हिलता है चंद्र में कंपन दिखता है जल के साथ चंद्र जल में आकाश भी दिखता है कहता आकाश हिल रहा है बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है आकाश हिल रहा है उपाधि का धर्म उपहित में प्रतिबिंब में दिखता है इसी प्रकार अंतकणादि उपाधि का धर्म आत्मा में दिखता है विक्रिया जैसे लगती किंतु सोपाधि का आत्मा में तो विक्रिया लगती है उपाधि के कारण उपाधि के जो धर्म वो आत्मा में है ही नहीं उपाधि है जपा कुसुम उसमें लालिमा है स्फटिक के पास रखेंगे तो स्फटिक लाल हो जाता है ना नहीं लाल नहीं होता लाल दिखता है लाल होता ही नहीं इसलिए उपाधि कहे वास्तव नहीं लाल उपाधि के कारण दिखता है इसी प्रकार उपाधि के कारण आत्मा में विक्रिया दिखती है उपाधि के कारण आत्मा में विक्रिया हो जाती है ऐसा नहीं उपाधि माया के कारण आत्मा में विकार हो जाएगा आत्मा अविक्रिय ही है कोई विकार विक्रिया नहीं है हाँ दिखती है विक्रिया तो जब तदरहित तो निरुपाधिक हो गया आत्मा उपाधि के कारण क्रिया दिखती है उपाधि है तो अभिक्रिय शुद्ध स्थिर कार्यम च कारण के नास्ति और जितने जगत कार्य है कारण से बिना है ही नहीं कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है उपादान कारण लेना उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है हाँ कार्य के बिना कारण रह सकता है रह सकता है घट को तोड़ देंगे तो मिट्टी रह सकती है कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है कार्यम च कारण व्यतिरेक नास्ति इसको श्रुति का दिवाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्यु कहते वो सत्यम छांदे माया आया वाचारंभण वाणी का आलंबन मात्र है शब्द से केवल कहा जाता है विकार कार्य विकार है कार्य नामधेयम नाम मात्रम नाम ही केवल है शब्द क्या आता है घट शराब एक शब्द कहा जाता है शब्द का आलंबन है मिट्टी से भिन्न नहीं है घट मिट्टी को अलग करके देखो घट कैसे है यदि मिट्टी से भिन्न होता मिट्टी को अलग कर पृथक कर देखो घट से भिन्न है पट घट से भिन्न पट घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा अब पट को जला देंगे तो घट रहेगा जलाने पर रहेगा हैं घट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा क्या रहता है क्योंकि भिन्न है और तंतु को जला देंगे तो पट रहेगा तंतु को जलाएंगे जो जिस तंतु से पट बना तंतु को जलाएंगे तो पट रहेगा ना नहीं क्यों कि पट तंतु से भिन्न नहीं है इसी प्रकार यदि भिन्न कार्य भिन्न होता कारण के बिना रह जाता मिट्टी के बिना घट रह जाए तंतु के बिना पट रह जाए नहीं रहता है इसलिए कार्य कारण से अलग नहीं है मृत्तिका इतिव सत्यम कारण ही सत्य नाम मात्र है मृत्तिका इतव सत्य मतलब कारण ही सत्य है घट के अपेक्षा मिट्टी सत्य है मिट्टी के अपेक्षा उसका कारण जल सत्य ऐसा करके अंत में सब उसका कारण सत्य है यदि श्रुते तदा तस् निरुपाधिक सलिंग जो निरुपाधिक आत्मा है उसका कोई लिंग ज्ञापक है ही नहीं जो ईश्वर सिद्ध करते हैं सोपाधिक ईश्वर की सिद्धि होती है अनुमान से कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते ये कार्य जगत है तो उसका कारण होगा ये मूलावधारण पहले आया था तुलावधारण मूलावधारणवत जगत रूप संसार कार्य को देखकर उसका मूल का अनुमान ये तो सोपाधिक ईश्वर का ज्ञान होता है कारण का जो निरपाधिक ब्रह्म उसका कोई लिंग नहीं है ज्ञापक कोई नहीं है क्योंकि कार्य कारण भाव में व्याप्ति होने से कार्य से कारण का अनुमान होगा शुद्ध ब्रह्म किसका कार्य है मालूम है किसी का कार्य नहीं कारण किसका है जगत का कारण नहीं जगत का भी कारण नहीं है शुद्ध ब्रह्म जगत का जो कारण है शुद्ध नहीं हो तो माया विशिष्ट है माया विशिष्ट कारण है माया विशिष्ट ईश्वर जगत को देख करके कारण ईश्वर का तो अनुमान हो जाएगा शुद्ध ब्रह्म का नहीं है इसे उसको अलिंग कहते हैं अलिंग अलिंगस्य सद असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मन तत्वभाव भवति जो शुद्ध ब्रह्म है अलिंग है जिसका कोई लिंग नहीं है ज्ञापक नहीं अनुमान करने के लिए ओके इसको क्या कहेंगे सद असद आदि प्रत्यय विषय तो वर्जित से सत प्रत्यय विषय तो उसमें नहीं असत प्रत्यय विषय तो नहीं है प्रत्यय ज्ञान ज्ञान विषय तो सत प्रत्यय विषयत्वम तो घट में रहेगा घटो अस्ति सत प्रत्यय विषयत्वम तो घटो नास्ति जो गीता में कहा गया ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत असत उच्यते वो ब्रह्म सत नहीं असत नहीं ब्रह्म को क्या कहा सत नहीं असत नहीं ब्रह्म सत नहीं सदैव समिदम अग्रासित यहाँ पे अस्ति अस्ति कर सदैव ब्रह्म गीता में कहते हैं न सत वहाँ सत का अर्थ क्या है जो ज्ञान का विषय अस्थि कहा जाता है उसको सत लेना घट ज्ञान का विषय होता है तो अस्थि प्रत्यय का विषय होने से उसको सत कहा गया अस्थि प्रत्यय प्रत्यय मतलब ज्ञान अस्थि इस प्रकार ज्ञान के विषय को सत शब्द से लेना जो कि उत्पत्ति के पश्चात भावी सत्ता है अस्थि प्रत्यय का विषय अस्थि इस प्रकार ज्ञान का विषय जैसे छह विकार है भाव पदार्थ में जायते अस्ति वर्धते अपक्षत विपरणवत विनशति पहला विकार क्या है जायते उसके बाद अस्ति कहें कि अस्ति जायते पे लिख देते हैं तो वस्तु तो जायते अस्ति उत्पत्ति के पश्चात भावी जो अस्तित्व है घट में घट की उत्पत्ति होने के बाद घटो अस्ति ये जो अस्ति है अस्ति ज्ञान का विषय अस्ति इति प्रत्यय ज्ञान उसका विषय तो घट में है वो अस्ति प्रत्यय विषयत्व को लेकर के सत कहा गया घट तो सत है पट सत है किंतु ब्रह्म इस प्रकार अस्थि प्रत्यय का विषय नहीं है क्योंकि उत्पत्ति के पश्चात भावी जो अस्तित्व विकार ब्रह्म में है या नहीं अस्तित्व के पश्चात भावी विकार घटो अस्थि ये तो होता है घट के साथ अस्तित्व का घट की उत्पत्ति होती उसके बाद ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं है इसलिए न सत ना सदुच्यते में जो ब्रह्म सत नहीं मतलब अस्थि प्रत्यय का विषय नहीं है इंद्र ग्राह्य नहीं से अस्थि प्रत्यय का विषय नहीं है इंद्र का विषय हो तो घटो अस्थि पटो अस्थि कहा जाता है ज्ञान का विषय होता है प्रत्यय ज्ञान प्रत्यय विषयत्वम घटपट आदि में है ब्रह्म में इस प्रकार नहीं और ज्ञान का विषय नहीं होता है ज्ञान रूप चिद भाष्यत्व प्रकाश्यत्व जड़े में रहेगा ब्रह्म में नहीं है इसलिए उसको सत नहीं कहते हैं यही यहाँ का सत असत आदि प्रत्यय विषयत्व वर्जित से सत प्रत्यय विषयत्व तो नहीं असत प्रत्यय विषयत्व तो नहीं जो ब्रह्म है उसको असत असत दोनों नहीं कहा जाता है असत नहीं सत भी नहीं असत तो नहीं असत प्रत्यय का नास्ति घट असत प्रत्यय का विषय हो जाएगा नहीं तो बंध्या पुत्र असत प्रत्यय का विषय हो जाएगा असत प्रत्यय का विषय होता है घट आदि किंतु ब्रह्म सत प्रत्यय का विषय नहीं इसे न सत ना उच्यते ब्रह्म सत नहीं असत नहीं असत हाँ, नहीं मतलब उत्पत्ति के पश्चात भावी जो सत प्रत्यय विषयत्व अस्ति प्रत्यय विषयत्व वो ब्रह्म में नहीं है घट में है घट की उत्पत्ति होती है उत्पत्ति के पश्चात भावी सत प्रत्यय विषयत्व आएगा घट में आएगा ब्रह्म में नहीं इसलिए ब्रह्म को सत नहीं कहना असत में नहीं कहना जो माया को कहते हैं अनिर्वचनीय और सत नहीं असत नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय वहाँ सत शब्द का अर्थ ही नहीं है पारमार्थिक सत नहीं सच्चे न बाध्यत ब्रह्म सत्य है नहीं ब्रह्म सत्य है पारमार्थिक उसका बाध नहीं होता है वो सद असत विलक्षण माया को जो कहेंगे वो सत शब्द का अर्थ अलग है सत्य पारमार्थिक सत बाध्यम सत्वम सत हो जिसका बाध नहीं होता है वो अलग है यहाँ सद असद आदि प्रत्यय विषय तो वर्जित का तो सत अस्थि घट इस प्रकार ज्ञान का विषय तो जैसे घट में आता है इसी प्रकार ब्रह्म अस्थि अस्थि प्रत्यय विषय तो उसमें नहीं तो निरुपाधिक ब्रह्म में सोपाधिक ब्रह्म हो जाएगा कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते जगत है तो उसका कारण है वो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अस्ति किंतु शुद्ध ब्रह्म में अस्ति प्रत्यय विषय तो नहीं है सत असत आदि प्रत्यय विषय तो वर्जितस्य वो कौन होगा सोपाधिक निरुपाधिक निरुपाधिक से आत्मन तत्व भाव भवति तब तत्व पर अस्थि से बोध होगा उसके बाद तत्व भाव प्रसन्न वास्तव पारमार्थिक स्वरूप होगा तेन च रूपेण आत्मा उपलब्ध भी अनुवर्तते तेन तत्व भावेन तद्रूपेण निरुपाधिक स्वरूप से आत्मा की उपलब्धि करनी चाहिए टीका में निरुपाधिक ब्रह्म अहम अस्मि इस प्रकार टीका में सोपाधि प्रथम स्त्रीभूत स्थिरीभूतस्य तद्वार लक्ष्य पदार्थ अवगमे सति क्रमेण वाक्यार्थ अवगति संभावित त्या सोपाधि के प्रथम स्थिरीभूतस्य पहले सोपाधिक ब्रह्म में बुद्धि स्थिर हो थोड़े बुद्धि में स्थिरता स्वच्छता होने पर शुद्धता होने पर निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान होगा इसे सुन करके सोपाधिक ब्रह्म छोड़ के सीधा निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान हो जाए संभव नहीं है कुछ लोग ऐसे कहेंगे सोपाधिक ब्रह्म से मुक्ति नहीं है निरुपाधिक होगा सीधे सीधे ही निरुपाधिक ब्रह्म बता दें उपदेश करेंगे सोपाधिक ब्रह्म का खंडन करेंगे ज्ञान हो जाएगा सीधा सर्व से ज्ञान हो जाए तो उपासना आदि कोई जरूरत नहीं सीधा लेकर वहां पहुंचा दे नहीं हो सकता है संभव नहीं कोई पढ़ता है वैद्य डॉक्टर बनना चाहता है कहेंगे ये स्कूल छोटे स्कूल को क्या जाना तुम पढ़ नहीं पढ़ बैठो थोड़ी देर के बाद तुम लेकर सीधा डॉक्टर बड़े कॉलेज में रुपया बहुत है वहां लेकर पढ़ लेगा ना डॉक्टर बन जाएगा सीधा इसी प्रकार अयोनो रील रील नहीं पढ़ करके सीधा महाभाष्य पढ़ ले भाष्य संभव नहीं है क्रम से जाना पड़ेगा सोपाधि के प्रथम स्थिरभूतस्य पहले इसलिए उपासना बताते हैं उपासना के बिना निष्काम कर्म सेवा उपासना के बिना सो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है अंतकोण शुद्धि के लिए चाहिए इसलिए पहले सोपाधि का ब्रह्म की उपलब्धि अस्तित्व उपलब्धव्य आगे तत्व भावेन च पर अस्तित्व उपलब्ध करना सोपाधि का उसके बाद निरुपाधिक का सोपाधि के प्रथम स्थिरभूतस्य सोपाधिक ब्रह्म में पहले स्थिर हो पहले जगत है तो उसका कारण है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा निश्चय हो उसमें बुद्धि स्थिर हो जाए इसलिए पहले वो शुद्ध ब्रह्म अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए और ब्रह्म का लक्षण करते समय जन्म जन्मादेशयत ये सारे जगत की जन्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिसो ही ब्रह्म है उत्पत्ति से प्रलय का कारण तो सोपाधिक ब्रह्म है सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान होने पर ही निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञान होगा राज्य में सर्प दिखता है बताते पिता माता गुरु कहते सर्प नहीं रज्जु है वो कहता है कहाँ रज्जु है ढूंढता रज्जु कहाँ है सर्प तो उधर है रज्जु कहाँ इधर उधर देखता है सामने तो सर्प है रज्जु कहाँ है इधर देखता है कहाँ रज्जु उसको दिखाएंगे कहेंगे उस सर्प को देखो पहले सर्प को दिखाते सर्प को देखो इधर उधर नहीं देखो वो कहता है वो तो सर्प है रज्जु कहाँ है ढूंढता है इधर रज्जु कहाँ है कहते रज्जु है वो देखता कहाँ रज्जु है इधर उधर वहाँ तो सर्प है रज्जु कहाँ है ढूंढता है इधर रज्जु मिलेगा या ऊपर मिलेगा कहाँ रज्जु देखाएंगे वो कहे सर्प को दे सर्प को देखो इधर नहीं देखो सर्प को देखो तो सर्प को देखता है रज्जु कहाँ है वे कहते वही सर्प रज्जु है सर्प को देखो बाद में कहेंगे देखो ही रज्जु उसको देखो वही रज्जु है वो तो डर करके उधर नहीं देखता है उधर ढूंढता रज्जु कहाँ है इसी प्रकार सोपाधिक ब्रह्म में बुद्धि स्थिर हो जाए उसके द्वारा लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा वाच्यार्थ ज्ञान होने के बाद लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा वाच्यार्थ तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है ज्ञान होने के बाद उपाधि औपाधि के धर्म छोड़ दो तो लक्षार्थ ज्ञान होगा इसी प्रकार त्वम पद का वाच्यार्थ है जीव चिदाभास विशिष्ट होता है अंतकण आदि को लेकर के जीव होता है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान साहंकार यदि लक्षार्थ चिन्ह मात्र शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्षार्थ त्वम पद का लक्षार्थ में कोई भेद नहीं पहले वाच्यार्थ निश्चय हो अहम ब्रह्म वाच्यार्थ निश्चय होने के बाद लक्षार्थ लेना पड़ेगा लक्षार्थ नहीं लेकर के वाच्यार्थ लेकर अहम ब्रह्म करते रहेंगे अहम इधर ब्रह्म उधर कुछ लोग डांटते कहते ये लोग पापी कहते हम ब्रह्म उनका का, उसका कारण क्या है वो वाच्यार्थ में अभेद मानते हैं ये लोग ऐसा मान करके उनको पता नहीं चलता है कि लक्ष्यार्थ कुछ अलग है वो शुद्ध निरुपाधिक ब्रह्म नहीं मानते कुछ अत्य भक्ति होने के कारण कहते ईश्वर वाक्यों के प्रमाण नहीं मानेंगे बड़े भक्त हो जाते हैं भक्तों का लक्षण है ना ईश्वर वाक्यों को प्रमाण नहीं माना ये बड़ा भक्त है ना भगवान कहते मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना भगवान कहते मैं अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्यापक हूँ अब बड़े भक्त कहते हमारे साकार इतने ही लड्डू गोपाल इतने ही भगवान कहते मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त रूप से मैं व्याप्त हूँ अव्यक्त सर्वव्यापक हूँ भक्त उसको मानेगा मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए तो निर्विशेष स्वरूप है उसको खंडन करने वाले बहुत लोग होते द्वैत तो, तो कहेंगे नहीं निर्विशेष क्या हो सकता है हो नहीं सकता है सविशेष है सविशेष है तो विशेषण वाला जो है विशेष पदार्थ क्या है जो सविशेष ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है गुण विशिष्ट विशिष्ट में एक विशेष एक विशेषण होता है जिसमें माया विशिष्ट को ईश्वर कहते हैं माई कहे नंतु महेश्वरम जो सगुण है गुण विशिष्ट विशेष पदार्थ क्या है विशेष पदार्थ सगुण है क्या विशेष शुद्ध है तो गुण मिलकर सगुण होगा दंडी पुरुष दंड जिसमें रहेगा दंडी पुरुष होगा पुरुष पहले से दंडी है क्या पहले पुरुष है उसमें दंड रहेगा तो दंडी होगा पहले शुद्ध ब्रह्म है उसमें त्रिगुण माया कल्पित होने से गुण सगुण होता है सोपाधिक ब्रह्म में पहले स्थिरभूत हो जाए उसके द्वारा तद्वारा अपने वेदांत में सोपाधि का खंडन नहीं करते हैं उपासना का निषेध नहीं करते भक्ति का निषेध नहीं करते सब चाहिए किंतु उसके बाद पारमार्थिक स्वरूप ज्ञान के लिए लक्ष्य पदार्थ ज्ञान चाहिए और द्वैतवादी लोग क्या करेंगे निरुपाधिक स्वरूप का खंडन करेंगे ज्ञान का खंडन करेंगे एक अदेश एक अंश को मानेंगे तो पहले सोपाधि के तिरभूत हो उसके बाद लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा ये प्रक्रिया को समझ करके उसके अनुसार चिंतन करना पड़ता है इसको नहीं समझ कर कि सीधा में ब्रह्म रटने से नहीं होता है इसलिए ये वेदांत प्रक्रिया को ठीक ठीक समझ करके श्रवण के बाद मनन करना पड़ता है ओम सहना